प्रारंभ कर सकते हैं श्री स्वामी जी महाराज आचार्य जी ब्रह्मचारी गण हम गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें ओ भूर्भुवस्सु तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचो आप इस समय न्याय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं ये न्याय दर्शन की विद्या जो है ये वेदों की है अर्थात ये विद्या सब वेदों से आई आप जो पढ़ रहे हैं ये सत्य विद्या है आपको इस दर्शन के विषय को समझने के पश्चात ये ज्ञान सब हो जाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है आप न्याय दर्शन को पढ़ने वाले इतनी योग्यता प्राप्त कर लें कि आप इसको पढ़ा भी सकते हैं पाठ में जो बात समझ में नहीं आई हो उसकी आवृत्ति करने पर भी समझ में जैसे नहीं आई तो आप अपने आचार्य जी से पूछो इसी प्रकार सारे पाठ को पढ़ना आचार्य जी से पूछते जाना आपकी बहुत अच्छी योग्यता बन जाएगी अविद्या से विपरीत ज्ञान से विपरीत आचरण से उल्टी विद्या जो समाज दी जा व्यक्ति उस सब को दूर करने का साधन विद्या आपके पास समय है ये आपको आ जाएगी समझ और इस विद्या को प्राप्त करके आप आचरण में ले आए जो सोलह पदार्थों का तत्व ज्ञान है वो आपको हो जाएगा और आप योगाभ्यास अष्टांग योग का पालन साथ साथ करते रहें तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुख्य प्रयोजन स्वयं ईश्वर को जानना औरों को जनाना स्वयं मुख्य प्रयोजन को पूरा कर लेना मोक्ष को प्राप्त कर लेना और औरों को जनाना ये सिद्ध हो जाएगा पर श्रद्धा से रुचि से इसको पढ़ें एक एक बात को पूरा समझें और फिर उसको व्यवहार में लाए आपको निश्चित रूपेण सफलता मिलेगी अपने आचार्य जी ने आपको इस विद्या को पढ़ाने का ये विचार बनाया और उनको ये बात आई कि इनको मोक्ष का मार्ग मोक्ष प्राप्ति करने का मार्ग बताया जाना चाहिए इस दर्शन की योग्यता अच्छी हो इस दृष्टि से आपने यदि मूल सूत्रों को याद नहीं किया हो तो मूल सूत्रों को कंठस्थ कर लेना चाहिए फिर इसके समझने में बहुत सरलता हो जाएगी आप औरों को भी मोक्ष का मार्ग बतला सकने में समर्थ हो जाएंगे अब आगे सुनेंगे आप अपने व्यवहार की जो बातें होती हैं व्यवहार में हमें क्या क्या करें कुछ कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें श्रवण मनन निधि ध्यान साक्षात्कार विद्या प्राप्ति के उपाय अब इसका पृष्ठ संख्या है पैतालीस और ऊपर के भाग से हमें इसको पढ़ेंगे ईश्वर को आदर्श मान कर चले हमारा आदर्श जिसको देख कर जिसके विद्या को जान कर जिसके आचरण को देख कर हम चलें तो ईश्वर को आदर्श माने सभी ऋषियों ने ईश्वर को आदर्श मान करके ग्रंथ लिखे और उनका आचरण उसी प्रकार से ईश्वर को आदर्श मान कर चले उसी को सर्वस्व माने सभी पदार्थों से उत्तम श्रेष्ठ ईश्वर है ऐसा मानना चाहिए उसी की आज्ञा पालन में सारा पुरुषार्थ हो ईश्वर की आज्ञा को पालने का पुरुषार्थ करें जो करोड़ों ऋषियों का अनुकरण करने वाले हैं उनको आदर्श माने ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले उनको जो है अपना आदर्श माने आदर्श माने हेयम दुखम नागतम इसको समझना आचरण में लाना अत्यंत पुरुषार्थ सामर्थ साध्य है इसको पुरुषार्थ से अलाया जाए यह सूत्र मुक्ति तक की बात कहता है मुक्ति की प्राप्ति के जो भी बाधक हैं उनको ग्रहण करना मुक्ति की अप्राप्ति से होने वाले दुखों का कारण है जो मुक्ति की प्राप्ति के जो भी बाधक हैं बाधाएं हैं उनको ग्रहण करना और मुक्ति की अप्राप्ति से होने वाले दुख का कारण है अर्थात जब तक शरीर में रहेंगे सांसारिक भोग इच्छा है तब तक दुख में नहीं दुख से नहीं बच सकते जब तक सांसारिक भोगों की इच्छा बनी रहेगी तब तक हमें जो है सांसारिक भोग इच्छा है तब तक दुख से दूर नहीं बच सकते नहीं बच सेंगे हम इसलिए इन इन दुखों से छूटने का उपाय मोक्ष है वर्तमान में यदि मुक्ति के बाधक संस्कार बनाएंगे तो उसका परिणाम फल विभिन्न योनियों में दुख भोगना पड़ेगा और इस जन्म में भी इसलिए मुक्ति के मार्ग से छोड़ने में विविध दुखों की प्राप्ति होगी इस जन्म में भी इसलिए हेम दुखम अनागतम अर्थात आने वाले दुख से बचा जा सकता है इस सूत्र में जो दृष्टि में रहते रखते इस सूत्र को दृष्टि में रखते हुए चलो जहां तक हो सके संसार में जिससे फंसना हो उसे छोड़ दें जो बाधक हैं उनको छोड़ देना चाहिए जो जो मोक्ष में बाधक हैं उन उन व्यवहारों को उन उन बातों को छोड़ देना चाहिए गुरु आचार्य के बार बार बताए जाने पर पर यदि शिष्य पुनः पुनः वही त्रुटि करता है तो गुरु आचार्य परे उसका पूरा प्रभाव पड़ता है तथा इस प्रकार बार बार त्रुटि होने होने के कई कारण होते हैं जैसे सुनने वाले को बताने वाले के प्रति श्रद्धा विश्वास सम्मान का अभाव अभाव का भाव न होना है का भाव न होना पढ़ाने वाले आचार्यों के सुनाने वाले आचार्य की उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए व्यक्ति की विश्वास होना चाहिए जो गुरु जी पढ़ाते हैं वो ठीक है शत प्रतिशत सत्य है वो ईश्वर की विद्या है ऐसा जानना चाहिए न हो वक्ता सत्य कह रहा है ऐसा ही नहीं मानना सत्य मानो उसकी बात को मानना अथवा वक्ता के कथन को सामान्य मान के छोड़ देता है गुरु के वचन को सामान्य नहीं मानना छोड़ो नहीं ऐसा नहीं मानना अथवा अच्छा वक्ता के कथन को सामान्य मान के छोड़ देता है उसकी परवाह नहीं करता ध्यान नहीं देता मन में सुनने और बताने वाले के प्रति विश्वास पात्र बनने की भी भावना नहीं होना विश्वास पात्र बनने की भावना बनी रहे अपने आचार्य वह वक्ता के कथन को अपनी अनुभूति के साथ नहीं जोड़ता ओम इसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार जो ये चार कर्म करने होते हैं इनमें ठीक ढंग से नहीं किया जाना इनको ठीक ढंग से करना जी श्रवण सुनते समय बड़े ध्यान से सुनो और कोई बात छूट न जाए अपनी लेखनी भी साथ रखनी चाहिए कापी भी विशेष विशेष बातों को लिखते रहना चाहिए श्रवण करना बड़ी श्रद्धा से और दूसरा फिर मनन करना मनन करना पढ़े हुए को विचारना निधि ध्यान निश्चय करना और साक्षात्कार जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको हम साक्षात्कार तक पहुंचाए साक्षात्कार तक उसका वो कर जैसे आप पढ़ते हैं कि मन जो है वो जड़ पदार्थ है ऐसा आपने पढ़ा चेतन नहीं है उसको प्रयोग करते समय देखो कि कैसा मानते हैं हम साक्षात्कार तक पहुंच जाओ कि मन को मैं आत्मा चलाता हूं मन स्वयं कभी भी नहीं चलता यहां तक पहुंचाना जब श्रवण की ही ठीक नहीं है तो मनन निधि ध्यान साक्षात्कार की बात तो दूर रही इसलिए साक्षात्कार तक ये करना चाहिए जब व्यक्ति केवल अपनी ही बात को मानता है कि यही ठीक है ये चाहे वेद ईश्वर ऋषियों के विरुद्ध हो तो ये हटता और अभिमान रूप मान सकता है इसे छोड़ देना चाहिए व्यक्ति की प्राय गंभीरता से जब तक नहीं सोचता वो ऐसा मान लेता है कि मैं जो कुछ सोचता हूं वो ठीक है और चाहे वो ईश्वर की बात हो ऋषियों की हो आचार्य की हो उससे वो बच नहीं सकता उसमें अश्रद्धा उत्पन्न रहती है ओ ये हटना है अभिमान है इस अभिमान को छोड़ देना चाहिए जब तक व्यक्ति पढ़ाने वाले अथवा उपदेशक को की शैली नहीं जानता कि वह कैसे बोलता है लिखता है व्यवहार करता है तब तक उसकी बात को पूरी तरह नहीं समझ सकता ये ध्यान देने की बात आचार्य की उपदेशक की बात को जब तक नहीं जानता तो क्या होता जब तक व्यक्ति पढ़ाने अथवा उपदेश करने वाले शैली को नहीं जानता उसकी शैली को जानना चाहिए वो कैसे बोलता है कैसे उसका अभिप्राय होता है कैसे वो बोलना चाहता है कैसे बोलता लिखता व्यवहार करता है ये आचार्य के आने चाहिए हमको तब तक उसकी बात को पूरी तरह नहीं समझ सकता ऐसे मैं वह अपनी शैली से ऐसी मैं वह अपनी शैली से चलेगा उसके अनुकूल व्यवहार नहीं करेगा वो आचार्य की शैली से फिर नहीं चलेगा इससे सामने वाले की हानि भी हो सकती अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो तड़प है जो आग विशेष होनी चाहिए वह यदि कम है आप में तो व्यक्ति आदर्श बने जाए ऐसा संभव नहीं है जब तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो तड़प है व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पूरा करो उसमें जो तीव्रता है रुचि है कम है तड़प अपने लक्ष्य को पूरा करने की आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में पूरी तीव्र इच्छा रखें श्रद्धा श्रद्धा उसमें ही विचार रहे आदर्श ऐसा संभव नहीं है स्वयं को योगी बनाने के लिए अपने शरीर को बलवान सुदृढ़ दीर्घ आयु बनाने के लिए और निष्काम भावना से परोपकार करने के लिए ज्ञान और संस्कारों की आग तड़प पैदा करो तभी कुछ कर सकते हैं इसलिए व्यक्ति के अंदर जो है अपने शरीर को बलवान बनाना बनाने के लिए और निष्काम भावना से परोपकार करने के लिए जा परोपकार करने की इच्छा व्यक्ति की अच्छी ही रहनी चाहिए यदि आप जैसे पाठ पढ़ते हैं किसी को कम समझ में आता है आप उसको उस पाठ को पढ़ाने के लिए दोहराने के लिए समय देते हैं और पूरे पाठ को दोहराते हैं और उसका उपकार करते हैं ये हमें लगन होनी चाहिए वह तड़प ये है कि अभी तो जीवन है सांस चल रही है जो कुछ करना है अभी कर लो आगे जीवन रहे या न रहे तो ये संकेत बार बार लेते रहना चाहिए अभी तो जीवन है ऐसा सोचो और सांस चल रहे अभी जी रहे हैं हम जो कुछ करना है जो हम करना चाहते हैं अभी कर लो अभी करो वेद में भी संकेत दिया अश्व थे वो निसदनम व्यक्ति तेरा जो शरीर है ये कल रहेगा या नहीं रहेगा ये ज्ञान व्यक्ति के अंदर विवेक पैदा करता है अत अत है पुरुषम इसलिए ईश्वर को जानो अगले जन्म की बात है अपने सोचो अभी सोचो कि हमें इसी जीवन में ईश्वर तक पहुंच जाएंगे जानने तक तो आगे जीवन रहे या न रहे व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर दोष अनिष्ट कार्य कार्य जानता हुआ भी कर लेता है एक बात ध्यान रखने की है हमारे अंदर ये शरीर जो है प्रकृति के पश्चात विकृति आदि सब अर्थात इस शरीर में हमारे में ये सामग्री है और इसमें सत्व गुण भी है और रजोगुण और तमोगुण रजोगुण तमोगुण के कारण जो है व्यक्ति के ऊपर प्रभाव करते हैं रजोगुण तमोगुण विपरीत विचार धाराएं होती है काम क्रोध आदि दोष उत्पन्न होते हैं हुआ लेता है तो इसका ध्यान रखा जाए जैसे आलस से अधिक आता है फिर व्यक्ति पढ़ना भी छोड़ देता है फिर व्यक्ति ठीक उठना भी छोड़ देता है इसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रभाव हमारे ऊपर कैसे आ जाता है ईश्वर को आदर्श मानो ये बात आपने सुनी ईश्वर प्रकृति को लेकर के इस सृष्टि की रचना करता है इस सृष्टि की रचना से जीवों को सब कुछ साधन मिलते हैं जीवात्मा को साधन मिलने पर इस सृष्टि से वो मोक्ष प्राप्त करता किंतु इसकी ओर ध्यान दो वो रजोगुण तमोगुण ईश्वर को प्रभावित प्रभावित क्यों नहीं कर सकते ईश्वर इसका प्रयोग भी करता है पर इससे प्रभावित कभी नहीं हुआ न होगा इसलिए रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर के व्यक्ति विपरीत विचार जो हैं उनको हटा देना चाहिए लेता है नियम अनुशासन में नहीं चलता इससे यह हानि हो, होती है कि वह अधिकारी लोगों का विश्वास पात्र नहीं बनता उसका उसका छोटी सी बात में भी विश्वास नहीं होता अपने लोगों को जो हमारे लिए प्रेरणा देने वाले उनका उन पर हमारा विश्वास होना चाहिए उसी से और बड़े बड़े हानि होने की संभावना रह जाती जैसे जिसका कोई विश्वास नहीं करता वह जीते जी मरा समझा जाता है इसलिए विश्वास पात्र हमको बनना चाहिए जैसे जिसका कोई प्रभाव होता है इसके अतिरिक्त वह अनुशासन से होने वाले गुणों और अनुशासन विहीनता से होने वाले हानि को नहीं जानता और विवेक वैराग्य वैराग्य योगी बनने बनने समाधि लगाने से बहुत दूर चला जाता है अनुशासन में रहना चाहिए व्यक्ति नियमों में का पालन श्रद्धा से करना चाहिए अपने आचार्य आप जी कहते हैं कि पाठ के आवृत्ति करना और जो नहीं आता उसको पूछो और फिर जो है उसके ऊपर चल, चलने का प्रयास करो अपने समाधि आदि तक पहुंच जाने की सामर्थ्य आप में आएगी बहुत दूर रहता है ओ मैं अब बेरा